पुनरागमन का मार्ग है गमनागमन का मार्ग है और भी वर्णन करते किंच इतना ही नहीं अविद्याम मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना जंघन्यमाना परियंदी मूढ़ा अंधे नीयमाना यदांधा अविद्यामंत्रे वर्तमाना अविद्या में ही डूबे हुए रहते अविद्या सबसे यहाँ उसका कार्य अविद्या का कार्य क्या संघात इस शरीर रूपी संघात में रहते हुए तल मध्यवर्ती अंतकरण में वर्तमान न होकर आसक्त है मैं हूँ ब्राह्मण मैं पुण्यकर्मी हूँ मैं धार्मिक हूँ इस प्रकार के अभिमान से रहने वाले शरीर के अंदर रहने वाले को कहते हैं अविद्याम अंतर्वर्तमाना ये सब अभिमान आप ब्राह्मण है ठीक है भगवान की असीम कृपा है कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया है इसलिए ये नहीं उस ब्राह्मणत्व को भी तुम्हें इनकैश करोगे उस ब्राह्मणत्व का भी वसूली कर लोगे ब्राह्मण मेरी पूजा करो मेरे को दक्षिणा दो मेरे को खिलाओ पिलाओ नहीं अभिमान नहीं होना है ही होकर के यदि ब्राह्मण क्षेत्र में पर जो भी वर्ण जहाँ भी देश जिस आश्रम में भी रह रहा हो वह स्वधर्म का आचरण करता है तो निश्चित उसका कल्याण होता है लेकिन उन व्यक्तियों का नहीं करें ये तो उनकी बात करें जो ब्राह्मण केवल अभिमान कर रहा है आश्रम का अभिमान कर रहा है मैं सन्यासी हूँ जैसे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में हमने देखा कुछ ब्राह्मणों में ऐसा पता नहीं क्या विचित्र है हम हिमालय में जन्म लिए देवभूमि में हम जन्म लिए हैं हम तो भूदेव है हमें नहाने की जरूरत नहीं हाँ, कुछ भी करेंगे जरूर जरूरत माल धारो भी खाएंगे हमें कोई पुण्य पाप नहीं रखता है अब बताओ ज्ञान की खोपड़ी गई है हम ब्राह्मण है देवभूमि में देव ब्राह्मण है आर्डनरी मैं मनुष्य ब्राह्मण थोड़ी हूँ हम देवभूमि में जन्म लिया हूँ देवताओं में भी मैं देव ब्राह्मण हूँ तो हमें क्या जरूरत है सब चीजों की कुछ भी नहीं करते बड़ा आश्चर्य होता है इतना भ्रांति उनके अंदर इतनी अविद्या में डूबे हुए हैं अहंता में और अपने ही अंतकरण में स्वाभिमान में आसक्त इसलिए कहते हैं अविद्या मंत्र वर्तमाना स्वयं धीरा स्वयं धीरे किसमें धीरे लौकिक कर्म लौकिक धीशाली लौलिक लौकिक बुद्धि वाले है वो अलौकिक पारलौकिक का ज्ञान ही नहीं है केवल लौकिक व्यवहार कुशल है झूठ छल कपट करके कमाना जाते पंडितम मन्य माना लेकिन फिर भी अपने आप को शास्त्री धीशाली अपने आप को मानते शास्त्रीय बुद्धि वाले अपने आप को मान नहीं सकते जन घन्य मारा पर्यंदी मोढ़ा पीढ़ मारा बारम्बार हिंसित होते हुए ये है मूढ़ हम धातु है जंघन्य माना बारम्बार यंगंत है जंघन्य मान तो बारम्बार हिंसित पीड़ित होते हुए भी पर्यंदी भ्रमंदी मूढ़ा ये मूढ़ इन्हीं स्वर्ग जैसे जो पुण्य कर्म करता है वो स्वर्ग तो जा करके आता है और अपुण्य कर्म करने वाला जैसे मेरे तीसरे कोटि में रहकर यहीं पर बारम्बार लौटता है भ्रमण करते रहता है उसी प्रकार यथा अंधेर नियमाना अंधा अंधे के द्वारा नेतृत्व करके ले जाए गए अन्य अंधों के समान है भाष्यकार अविद्या मंत्रे मध्य वर्तमान अविद्या का मध्य में जो विराजमान रहते हैं वर्तमान अविवेक प्राय अविवेक प्राय मरे विवेक किंचित कहीं कहीं जगह वह दिखाई दे सकता है लेकिन निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत सब क्या है अविवेक प्राय स्वयं वयमेव अधीरा जैसे ब्रह्मचारी माता हम ही महान है भाई हम तो फंसे नहीं संसार में क्यों समझते हैं नहीं मानते हैं क्या हम लोग जैसे धीर बुद्धिमान कौन हो सकता है जब हम तो बच गए कि चार में फंसने से ये सब गृहस्थी के फंसे हुए हम तो महान है अपने आप कैसे मानते कि नहीं मानते लेकिन स्वधर्माचरण है न स्वर्ण स्व आश्रम अनुसार न कोई आचरण नहीं और यहाँ आकर के मन में एक मुंह में एक पेट में अलग पीठ के पीछे कुछ और हो जाते हैं ऐसे होते हुए अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान मानना वो भी तो अभी की कोटि में ही आ गया चाहे किसी वेश में हो किसी रूप में हो इसे स्वयं भी रहा लौकिक कर्मों में कुशल है वो चाहे किसी भी वेश में हो पंडितम मन्य मारा पंडितम मन्य मारा भाषिकार जो कहते देखो कि पंडिता धीमंत हो गया धीरा मैंने धीमंत टिप्पणकार कहते लौकिक धीशालीना स्पष्ट कर दिए हैं पंडिता शास्त्रीय धीशालीना विदित वेदित वेदित विदित वेदित व्यास जितने भी वेदितव्य है उन सबको मैं जान लिया हूँ और मुझे कुछ जानने योग्य नहीं है मेरे बराबर कोई पंडित नहीं विद्वान नहीं ऐसे अपने आप को मानते हैं मन्य माना आत्मान संभाव अपने आप में संभावना मान कर लेते हैं तेज जंघन्य मारा जरा रोगा अनेक नृत्य हन्य मारा जंघन्य मारा मैंने जरा रोग आदि अनेक अनर्थ सुबहों से हन्य माना बार भृषम पीट्य माना यंगंत का लेना भीषण पीटे माना बार बार पीड़ित होते हुए रहते हैं पर्यन भ्रमण भ्रमण मोड़ा मोड़ इस प्रकार से भ्रमण करते रहते दर्शन वर्जित तो क्योंकि उनके विवेक है नहीं दर्शन से रहित है उपासना से रहित है वो अंधे नहीं आचक्षुष्टे नहीं नियमाना प्रदर्शमान मार्गा यथारोग्य अंधा अक्षरहिता जिस प्रकार से चक्षुरहित किसी पुरुष के द्वारा मार्गदर्शन करते हुए मार्ग को दर्शाते हुए ले के ले जा रहे हैं जो अक्षी रहित अन्य अंधों के समान उसका भी दुर्दशा होगा गर्त कंट का जो पतंती यथा तक लोक में यह अनुभव सिद्ध है जैसे एक अंधे अन्य अंधों को ले जाता है तो गर्त का आदि में पड़ जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इन केवल कर्मी और दुराभिमानियों का समस्त अविवेकी अपने आप को पंडित और धीर मानने वाले उन सभी लोगों का हाल होता है कहते स्वयं तत्वदर्शी उपदेश की अपेक्षा न करते हुए जो चलता है मनोरथ से चलता है मने मनमाने चलने वाला मनमौजी जिसको कहते हैं लोग अर्थात अपने आप को मन रूपी मोजा में डाल लिया इसलिए मनमौजी मन को अपने अधीन नहीं रखा मन के अंदर घुस गया उल्टा हो गया वो लोगों का यह हाल है अविद्यायाम बहुलावर्थमारा वयम गृदाताच्य विमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागातेनातरा क्षीण लोकाश्यवंत अविद्याम बहुला वर्तमाना बहु प्रकार वर्तमान है बहुला वर्तमान बहुत प्रकार से विद्या में रहते पता ही नहीं चलता हम अविद्या में है नहीं एक ही हो है और अपने आप को समझ रहे अभी जैसे परे हो गए ऐसा चाल चलता है ये मन व्यक्ति मित्र बढ़िया ढंग से घुमा देता है जैसे माया भी घुमा देता है ना बातों से मीठी मीठी बातों के द्वारा कुछ होता है नहीं और वो बोलते जाता है और आप वैसे वैसे देखते जाते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है वो तो जैसे जैसे कल्पना करते जाता है और कहते जाता है देखो यहाँ पर ये बना रहा हो कबूतर हो रहा है देखो इधर उड़ रहा है ये हो रहा है आप वैसे ही देखते रहे कहा वहां कबूतर भी उड़ना दिखाई देगा आपको सब कुछ दिखाई देगा और कुछ उसने बनाया नहीं ना कुछ उड़ा है ना कुछ हुआ है इसी प्रकार से ये मन हम लोगों के सामने कहते रहता है अरे आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो अब चिंता मत करो और हम भी जो हाँ मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ मन अच्छा बेगू बना देता है किस प्रकार पता नहीं है हम अविद्या में किस प्रकार से विराजमान रहेंगे हमें ही पता नहीं चलता इसलिए बहुधा वर्तमान बहुत प्रकार है उसके सैकड़ों रास्ते हैं इसे चोर किस रास्ते से आता और जाता है आपको कुछ नहीं पता चलता आप यही समझ रहे हम बड़े सुरक्षित है हर जगह ताला लगा रखा हो सब बंद है बिल्कुल ठीक ठाक है फिर भी चोर घुस ही जाते हैं उनको पता है किस रास्ते से आना होता है उन्हें ये भी पता है कौन सी ताला तोड़ने पर किसी को पता नहीं चलेगा तो ऐसी जगह की ताला पहले तोड़ के आएंगे आपको पता नहीं चलेगा आप अंदर सोते रहते हैं बड़ी गजब है वो भी एक कला है इसी उसी प्रकार या अविद्या भी वह कला वाली है सकल कला उसी के अंदर क्या कहना है तो जो कैसे घुस जाएगी फिर कुछ पता नहीं चलता इसे कहते हैं बहुजा वर्तमाना इसी कारण से बाला वयम कृतार्थ है इसलिए मूढ़ लोग अभिवेकी लोग अपने आप को कृतार्थ मानने लगते हैं यह कर्मिणो न प्रवेद जो ये केवल कर्मी होता है उसके अकल में कभी वो बात समझ में आती नहीं कभी उसको यह महसूस ही नहीं होगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं उस कर्मी को कभी उसका ज्ञान ही नहीं होता विवेचन ही नहीं हो पाता है कर्मी लोग कर्म फल संबंधी राग से मुक्त क्यों रागात कह दिया हेतु दे दिया क्योंकि अपने स्वकर्म जन्य फल के प्रति उनके अंदर जो अनुराग बना हुआ है उस राग के कारण से उनका विवेक जागृत नहीं होता वे नहीं समझ पाते कि हम गलत में हैं तेन आतुरा सुंद इसलिए वे आतुर होकर दुख से पीड़ित होकर बारम्बार क्षीण रोका पुण्य जब क्षीण होता है स्वर्ग आदि से वापस गिर पड़ते क्षवंत है कर्फल के नष्ट हो जाने पर स्वर्ग से वापस लौट आते किंच अविद्याम बहुधा बहु प्रकार वर्तमान अविद्या में बहुत प्रकार से विराजमान विद्यमान उसके प्रकार का कोई पता नहीं चलता है कितनी है ये भी पता नहीं जब कितनी है मालूम तो हो तो फिर उन सारे चीजों पकड़ लेंगे देख लेंगे कौन से रूप में अंदर आ रहा है लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता है क्योंकि अघटित घटना पटी ऐसी माया है और माया ऐसी चीज ही है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते घटना को घटा के दिखा रहे कल्पना नहीं कर सकते क्या ये भी संभव है असंभव को भी संभव बना करके दिखा देते तो कल्पना तो टहरा और कल्पना के ऐसे चार में फंसा देते हैं आपका विवेक क्षीण हो जाता है इसलिए बहु प्रकार वर्तमान वयमेव कृतार्था कृत प्रयोजना और आदमी क्या सोच रखता है हमने तो उस असली प्रयोजन को कर लिया प्राण कर लिया है और कुछ करना नहीं रह गया इति एवं अभिमन्यंती अभिमान कुरंती बाला अज्ञान इस प्रकार के अभिमान करते हैं कौन बाल अर्थात अज्ञानी लोग यदि अस्माद एवं जिसलिए ऐसा है ये जो कर्मी लो न प्रवेदयंदी तत्व न जानंदे इसलिए जो केवल कर्मी होते हैं वे तो परा विद्या के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते उस तत्व को उस शब्द से सुन के रट के तोते के समान बोल भी ले, लेकिन वह समझ ही नहीं सकते जितने वेदांत पर बोलने वाले हैं इनमें वेदांत को समझे हुए कितने हैं समझ ही बहुत कठिन है वेदांत को समझना अनुभव करना तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा बहुत घर की पानी पीने पड़ेंगे आज की भाषा में यही बोला जाता है समझना ही कठिन रख लेना आसान है और शब्दार्थ ज्ञान को पकड़ करके वेदांत पर बोलना भी आसान है लेकिन वास्तव में वेदांत को समझना जो कहते वेदांत विज्ञान आता जो निश्चयार्थ करना सुनिश्चितार्थ होना बहुत कठिन का सुनिश्चित तो शब्दार्थ निश्चित तो कोई भी कर सकता है लेकिन सुष्टु रूपेण समझ लेना इसलिए सुनिश्चित सूप से जोड़ा है समय प्रकार सुष्टु रूपेण बुद्धि तत्व उसको ग्रहण करे मनस तत्व ग्रहण करना एक अलग चीज है जब मनस तत्व उसको ग्रहण करता है ना तो अहंकार हो जाता है अरे मेरे जैसे वेदांत बोलने वाला कोई नहीं तो मन के कारण से अहंकार होता है यदि बुद्धि तत्व वेदांत को समझ लेगी तो विद्या ददाती विनियम वाला जैसे फलशाली वृक्ष के समान वह विनम्र हो जाता है यह अंतर है यदि किसी वेदांति में अविनम्रता देख रहे तो समझिए कि ये वेदांत को समझा हुआ है यदि वेदांत को अपने पर घमंड कर रहा है तो समझ लेना की आप ये मस्त शब्दार जाल में फंसा पड़ा हुआ है उन्हीं को बोल रही है यहाँ पर कि वो तत्व को नहीं जान सकते ये भी केवल स्वाध्याय कर्म को किया है केवल कर्मी कोटि वो भी है इसलिए कह रहे हैं कुर अभिमान कुरवंते बाला ज्ञानी रह यदि यस्माद एवं कर्म न प्रवेदेंगे तब तो तुम न जानती कथम न जानती रागा कर्म फल रागा भव निमित्त कर्म के जो फल में अनुराग हो गया है तार्श अनुराग कैसे अभिभूत होकर के उसकी बुद्धि कुंडित हो जाती है ये स्वाध्याय तो एक कर्म है ना समय पर उठ के आ रहे हैं नहा धो के शुद्ध होकर के ये भी कर्म है लौकिक दृष्टिकोण से शारीरिक दृष्टिकोण से एक कर्म और शब्दों को सुनना ग्रहण करना अर्थ को उसका चिंतन करना ये सब मानस कर्म है इसलिए कर्म ही कर रहे हैं और कर्म निरग्निक कर्म है और इस तत्व संबंधी कर्म होने किंचित उपासना स्वरूप भी है ये इसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मप्तव्यम तदि तदित तप तप रूप है इसलिए ये भी तपस्या क्योंकि ये कर्म आप कर रहे हैं यह कर्म तभी सफल माना जाएगा जब आप वेदांत को बुद्धि से ग्रहण कर समझ लेंगे अब बुद्धि से ग्रहण करना आसान नहीं दृश्य तो अग्रह बुद्धिया स्पष्ट कहा है कर्तव्य परिषद में उसके लिए अग्र बुद्धि चाहिए साधारण तीक्ष्ण बुद्धि से भी काम चलेगा नहीं अत्यंत तीक्ष्ण क्षेत्र धारा रचिता इस शब्दों को इसलिए प्रयोग कर रहे हैं इतनी तीक्ष्ण कि ये जो भेद है अनंत जन्मों के द्वारा आध्यासिक आरूढ़ है आरोपित भेद उसको भंग करने की क्षमता होनी चाहिए उसको भंग करने के लिए भगवान ने तो बड़ा सुंदर अस्त्र दे दिया असंग शत्रु धड़े रचित्वा असंग रूपी शस्त्र अपनाने के लिए उस बुद्धि कुशल होनी चाहिए ना कुशला से वक्ता इत्यादि कठोर स्पष्ट पहले कह चुके कुशल तब होना अलग चीज है कि शब्द श्रवणार्थ ग्रहण ग्रहण करना केवल कर्म ही है एक ही केवल कर्म में उत्कृष्ट तपस्या है ये एक उत्कृष्ट आपने मानस उपासनात्मक कर्म कर रहे हो एक उत्कृष्ट फल मिलेगा कुछ ज्यादा समय स्वर्ग आदि में जा सकते हैं नहीं तो अगले जन्म या ज्यादा समय कहीं ऊंचे पद का महंत शंकराचार्य आदि पदों की प्राप्ति हो सकती है पुण्य का फल तो मिलना ही है कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाएगा कर्म का फल तो जरूर मिलेगा इसलिए कह रहे जान करके कर्म फल में राग होने के कारण से अभिभूत हो गया है अभिभव निमित्तम तेना कारण आतराध पार्था इसी कारण से ये सब सदा सदा दुख से पीड़ित है ऐसा होते होकर संता क्षीण लोका क्षीण कर भरा स्वर्ग लोका क्षण है अपना कर्म फल जब क्षीण हो जाता है इनका सब देवता वहां से बाहर कर देते हैं तो स्वर्ग लोक से नीचे आ जाते हैं इष्टापूर्तम माना वरिष्ठम नान्य वेलियम दे प्रमूढ़ा न कस पृष्ठे जैसे सुकृदेन भूतवा इमं लोकम ही नरम वा विशंदी इसलिए प्रमोड़ा जब प्रकृष्ट ना मूल है ना वे तो इष्ट पूर्व और दत्त कर्मों में ही इन्हीं कर्मों को वरिष्ठ कर्म करके मानते हैं स्वाध्याय रूपी कर्म को भी उतना नहीं मानते स्वाध्याय से भी बढ़कर इष्ट पूर्वक कर्मों को महत्व मानते इसलिए आप प्रमूढ़ में भले ही नहीं है पूर्वोक्त तो मूढ़ कोटि में भले हम लोग आ सकते हैं यदि हम वास्तव विवेक वैराग्य से होकर स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए स्वाध्याय करते हुए मुक्ति के लक्ष्य को अपना कर भी नहीं चलते हैं गण शुद्धि को महत्व तो देते हुए तो हम लोग भी मूल कोटि में है ही इसमें कोई संशय नहीं है इतना जरूर है लेकिन हम लोग प्रमूल कोटि में नहीं है क्यों क्योंकि आप इष्ट दत्त कर्मों के पीछे भाग नहीं रहे स्वाध्याय में लगे हुए हैं जो लोग इष्ट पूर्व और दत्त कर्मों में ही कर्मों को ही वरिष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ कर्म करके मान के चलते हैं नान्य श्रेय और इससे अन्य कोई दूसरा श्रेय कर्म है ही नहीं ऐसे जो मानते वे क्या है वे प्रमूढ़ है पूर्व में का मूढ़ और आप कह रहे प्रमूढ़ नहीं है इसलिए हमने उन लोगों को भी ले लिया तो स्वाध्याय आदि उनको लौकिक दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं अंतम शुद्धि आदि द्वारा वास्तविक विधिवत श्रवण मन के द्वारा बुद्धि से समझने की चेष्टा जो नहीं करता है वो भी पूर्व कोटि में आ जाता है एक उत्कृष्ट कर्म कर रहा है केवल कर्म में भी इसलिए अगर नाक से पृष्ठ थे सुकृदय ते सुकृदय नाक से पृष्ठ है कम सुखम न सुखम विदिति अकम मैं दुखम इत्यर्थ न विदिति दुखम ये यथ नाकम तस्मिन नाके नाक से पृष्ठ है मैंने स्वर्ग से भूमि कम मैंने सुख कम ब्रह्म खम ब्रह्म का कम मैंने सुखम जो सुख नहीं है वो अकम है वो अकम कहा जाएगा न अकयती न अकम अर्थात जो दुख नहीं है वो अर्थात नित्य नहीं द्वय हमेशा वस्तु की दाढ़ता को प्रकट करता है इसलिए कहते हैं न न आपके कि ना आपका नहीं तो आगे ना तरह का है ना आपके है ना अतः किम देते का एवं देते ना किंचित नहीं तो का मात्र को सिद्ध करता है ये नागत पृष्ठ है स्वर्ग के उच्चतम स्थान है पृष्ठ मैंने उच्चतम स्थान में जो कि कैसा प्राप्त हुआ था अपने कर्मफलों के रूप में उत्तम कर्मफलों रूप में प्राप्त हुआ था उसे अनुभूत अनुभव करके वापस कोई गारंटी नहीं है लेकिन इस लोक को भी प्राप्त करेंगे इमम लोकम ही करम इसे घड़िया लोगों में भी जा सकते हैं कि जब वहां से धक्का बाहर किया जा रहा हो उस समय यदि मान लीजिए ये कर्म पाप प्रदान हो जाए तो हीन तर लोक में चले जाएंगे उस समय उत्तरवर्ती जन्म के लिए मिश्रित कर्म प्रदान हो जाएंगे तो इस श्लोक में आ जाएंगे पुण्य पाप मिश्रित कर्म होगा तो इम लोकम की प्राप्ति होती है पुण्य आदि भाई पुण्य तो खत्म होने से तो आ रहे हैं ना वहां से धक्का खा रहे हैं छीने पुण्य इसे पुण्य अधिकता का प्रसंग तो है नहीं अब जब स्वर्गलोक से निकल रहे होंगे उससे पुण्य की अधिकता का प्रश्न नहीं है दो ही रास्ता है या तो कर्म बैलेंस हो रखा है मिश्रित है अथवा केवल पाप प्रधान है तो वहां से जब निकला निकाला जा रहा हो उस समय जो अगले जन्म आपको होना है उस जन्म की प्रार्थना तय हो जाएगा जब तय होता है तो उस समय जब पाप प्रधान तय हो गया ही तो हीन लोकम कह दिया यदि मिश्र कर्म तय हो गया वहां तो इमाम लोकम वहा विसंधि इसलिए विकल्प दे दिया गया हाँ ये भी उत्कृष्ट पशु का जन्म प्राप्त करेगा जैसे यहाँ देख लीजिए गौ बने ठीक है गौ बने डेयरी फार्म का फायदा क्या हुआ गौ बने किसी आश्रम का स्वाध्याय करने वालों के स्थान में रहे आश्रम में भी ये नहीं अखाड़े में चले जाए गौशाला में तो वहां की गौशाला में क्या मिलेगा सुनने को गालियां मिलेंगी है नहीं हाँ कलाशाश्रम में तो गौशाला में गौ रहेगी बंद करके रहेंगे भाई सवेरे से रुद्र तो सुनने को मिलेगा वेदांत का स्वाध्याय सुनने को मिलेगा जब कुत्ता बन जाए तो ऐसे उत्तर शासन कुत्ता बन जाए तो पुण्य के कारण ऐसे जगह आ जाता है मनुष्य भी बताया गया ऐसे स्वर्ग से आने वाले मनुष्य सभी मनुष्य स्वर्ग से नहीं आते नरक से भी प्रमोशन पाके आने वाले हैं कीमत सोचेगा जो मनुष्य हुए हैं या जो वेला श्रवण कर रहा हूं तो मैं स्वर्ग से ही आया हुआ हूं ये कोई आवश्यक भाव नहीं किसी पुण्य विशेष था जो पापों को भोगने के बाद नरक से आपको वापस यहाँ आना पड़ा है वो तो पुण्य विशेष के प्रताप से तो आपको वेदांत श्रवण करने के प्रसंग मिल रहा है ये भी हो सकता है इसे गहना कर्मणों गति कहा है ना इसीलिए कहा पता नहीं तो लक्षण बता दिया जिनमें ऐसा ऐसा सदगुण मिलेगा तो समझो कि ये स्वर्ग से आया हुआ और यह महात्मा हो गया फिर 24 घंटा तब भी माध्यम भी बोल के चलते फिरे वो तो समझो कि नरक से आया हुआ है और अखबार उठाएगा बुधवार का खरीदेगा दूसरे को नहीं खरीदेगा बुधवार का अखबार विशेष है आप क्या मानोगे आप तो आप तो सर्वक्षा ही हुए लग रहा है जो नरक से आए उनसे पूछो और पता चल जाएगा कि वो किस चीज को दृश्य को देखते रहते हैं बुधवार के अखबार में क्या स्पेशल मिलता है तो ऐसे ऐसे दुनिया को आप देखते हैं यहाँ इसलिए कहते यहाँ ही वालों कमीशन रिश्ता पूर्तम इष्टम मैंने यागादि स्रोतम कर्म इष्ट कर्म कहते हैं यागादि स्रोत कर्म को पूर्वम पूर्तम ने वापी कुप तड़ागा समाप्त मन माना पूर्व क्या है वापी कुप तड़ागा जो समाप्त कर्म दत्त कर्म स्मार्थ अन्नदान आदि को भी ले लेना स्मार्थ मन्य माना एक अतिशय पुरुषार्थ साधन में वरिष्ठ प्रधानमंत्री यही अतिशयन पुरुषार्थ का साधन परम पुरुषार्थ यही साधन है वरिष्ठ प्रधान चिंतन दो अन्य आत्मज्ञानाख्यम श्रेष्ठ साधन नवेदयंते ऐसा चिंतन करते हुए वे आत्मज्ञान नाम का कोई दूसरे साधन जो है उन श्रेष्ठ साधनों को वे जानते ही नहीं नवेदयंते न जानते वह कदम प्रमूढ़ पुत्र पशु बंधुआदिशो प्रमत्तया मूढ़ पुत्र पशु बंधु आर्यो में ही प्रमत्त हो करके मूड हुआ है इसे केवल मूड नहीं प्रमत्त तया मोड़ा अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी उस अवसर का लाभ न उठाते हुए प्रमाण करता हुआ मूर्खता को प्राप्त हुए जैसे कई घर में देखा जाता है माता पिता बड़े कर्म कांड पूजा पाठ भजन कर रहे हैं लेकिन बेटा उस तरफ देखता भी नहीं उनका भी परीक्षा है समझो और जैसे दीदी को कह दिया था पहले ही कश्यप ने कि तुम्हारे जो संतान होगी दोनों राक्षस होंगे क्योंकि तुमने अकाल में अनुचित काल में मेरे को ऐसा जबरदस्ती प्रेरित करके कर लिया है संबंध इसीलिए दोनों राक्षस होंगे तो बहुत प्रार्थना करी वो कि किसी तरह से कल्याण कर दो देव कुछ नहीं हो सकता है हाँ इतना मेरे आशीर्वाद होगा उनमें से एक पुत्र का जो पुत्र होगा वह परम वैष्णव हो जाएगा उन्हीं उसी को देखते हुए उसी के जो लालन पालन के द्वारा उसी की कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाए पहला आपके लिए संकेत किया तो ये जो चीज है अब देखो बच्चे कैसे हुए दोनों राक्षस हुए उनका अपने कर्म थी गलत समय पर संबंध करना और उसी कर्मानुप उनको फल मिला दो पुत्र गलत निकले कहने का तात्पर्य पर यह है कि जितने भी हम लोग अनुभव पुत्र पशुवादी है बंधवादी हैं इनमें प्रमाण पूर्वक हम अपना अपन अपना रहे हैं इन सभी में यदि प्रमाण शून्य होंगे तो आप विवेक करके देखते हो अपना कर्तव्य करोगे वहां फिर मूढ़ता नहीं रहेगी मूढ़ता का कारण प्रमाद ही है और सामान्य मूढ़ता का कारण अविवेक दोनों में फर्क है जो सामान्य मूढ़ता है उसका मुख्य कारण अविवेक है प्रमाद नहीं है और अविवेक होते हुए प्रमाद भी कर डालना और भी खतरा हो अभी तो एक सूक्ष्म कोटि है प्रमाद तो स्थूल कोटि इसलिए कहते प्रमत तया मूढ़ा तेज नागस स्वर्ग से पृष्ठ उपरिस्थाने सुखदेव भोगायतने अनुभूत वे लोग उस नाक मैंने स्वर्ग का जो पृष्ठ मैंने ऊपरी स्थान में जाकर के जो की सुकृत है उनके क्रिय हुए कर्म का फल और भोग करने के लिए ही भोगायतन होता उस आश्रय में जाकर के अनुभूत अनुभूय कर्म फलम पुनः इमम लोकम मानुषम अस्मात हीन द्रंगा तृतीय नरकारी लक्षणम यथा कर्म शेषम विषम थे आगे ना यथा कर्म शेषम श्रद्धेयोपवसंत्यरण्य शांता विद्वांसो भ्रष्टचर्याचरम दह सूर्य द्वारेण तेरज विरज यमृत पुरुषो ही अव्ययात्मा कर्मियों का केवल जो कर्मी है शास्त्रीय कर्म अविहित अविधि पूर्वक कर रहे हो चाहे अशास्त्रीय कर्म कर रहे हो यह शास्त्रीय कर्म विहित काल देश आदि में असमित प्रकार से जो कर रहे हो वही केवल कर्मियों का विचार हो गया और ये सम्यक प्रकार से कर भी रहे हैं केवल कर्म को उनकी भी स्थिति अंत में इष्टापत इत्यादि के द्वारा मंत्रों से कह दिया गया है और अब केवल जो उपासक हैं यह कर्म विशिष्ट उपासना करने वाले लोगों को ले रहे हैं गृहस्थों में जो कर्म सहित उपासनाएं भी कर रहे हैं और वह प्रस्थी जो कि कर्म से तो उपासना कर रहे हैं और उन सन्यासियों को भी लेंगे जो केवल उपासनाओं को करते हैं कर्माधिकार अग्नि का उद्वास कर चुके हैं त्याग कर चुके हैं इसलिए उनके पास अग्नि तो है नहीं कर्माधिकार वैसे भी नहीं रहा अतएव वे केवल उपासना कर रहे ऐसे इन तीन प्रकार के लोग उनके बारे में वे क्या करते हैं कैसे करते हैं उनको क्या फल मिलेगा वह सारा वर्णन करने जा रहे हैं ते तप श्रद्धा ही उपवसंती अरण्य जो कि तप और श्रद्धा इनको अपना करके तप और श्रद्धा तप से आ लेंगे स्वाश्रम विहित जो कर्म है गृहस्थाश्रम के लिए भी तो वाहन प्रस्थाश्रम के लिए भी जो कर्म है पर सन्यासी होकर विदुषु सन्यासी होने के नाते उसके लिए भी जो सामान्य कर्म है वो कर्मों को कर रहा है निरग्निक कर्म करता है वो सागरिक कर्म करते हैं इतना ही अंतर होता है और श्रद्धा शब्द से लेना हिरण्य गर्भ आदि विषय जो उपासना विद्या इन दोनों को आचरण करते हुए चरणता ये अरण्य बहुसंति जो अरण्य में निवास करते हैं ऐसे प्रस्थी और दूसरे शांता विद्वांस हो विद्वान साधन से गृहता और शांता भी उसी के साथ करेंगे ये शांता अन्य उपवास जो समस्त करणों को शांत कर लिए जितेंद्रिय होकर के बैठे हुए वानप्रस्थी और विद्वांस से गृहस्थों को लेना जो कि उपासना विद्या उपासना को लेना उपासना को करने वाला यह विद्वान है शास्त्रों का ज्ञान वाला नहीं लेना है है ना इसलिए यहाँ विद्वान सामने सीधे भाष्यकार कहेंगे ग्रस्ता नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी कि शांता शांता बोल चुकी है शब्द बोल चुके हैं तो सब जो शांता शब्द है सब जगह हमें होगा गृहस्थी वो जो उपासना प्रधान और निष्काम भाव से कर रहा है ये काम ना करे तो उसमें स्वर्ग में चला जाएगा इसे उन ग्रस्तों को लेना जो शांत करने वाले हैं अर्थात उनके अंदर भी त्याग वैराग्य है किंतु ग्रस्त धर्म में रह रहा है गारस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है इसलिए पुत्र पौत्र आदियों को लेकर सागनिक कर्मों को करते रहेगा साथ में इसलिए वह विद्याओं का अपराग्र उपासनाएं भी करने वाला है विद्या शब्द से यहाँ उपासना लेना है तद्वान विद्या विद्यावान का नाम विद्वान विद्वान सह गृहस्था और अंत में भविष्यचर्यांचरंद और भिक्षाटन करते हुए रहने वाले जो सन्यासी लोग ये तीनों प्रकार के लोग ते ये शांता तपस्वृद्धि च अरण्य पोषंती ये जो विद्वांस तपस्वृद्धि युक्ता कर्माणि कुरंती ये च भविष्यचर्यांचल होती ते सर्वे सूर्य प्रयांती ये सब के साथ सूर्य द्वार के से सूर्य सूर्य द्वार में सूर्योपलक्षित तेजोमय है वो जो द्वार हिरण्य गर्भातुष पद उसको वे प्राप्त कर लेते ते विरजा संतप प्रयाम थी विरजा रजगुण से प्रेरित होकर जो काम क्रोध आदि से रहित होकर के वे लोग वहां पहुंच जाते हैं यहां जहां पर सपुरुष अमृता ही अव्यत्मा जहाँ पर जो है जिस सत्यलोक आदि में वह अमृत और अवय स्वरूप वाला हिरणबा पुरुष रहते हैं उस स्थान को प्राप्त कर जाते हैं अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं इसलिए कर्म विशिष्ट उपासना करने वाले और केवल उपासना करने वाले लोगों का गति ब्रह्मलोक है केवल कर्म की गति जो है स्वर्गलोक तक की है कर्म विशिष्ट उपासना करने वाले लोगों की गति भी और केवल उपासना करने वाले जो सन्यासी होते हैं जिनको जो है यहाँ पर उचित समय प्रकार से विद्या सफल हुआ नहीं है और वो इतने लगे भी नहीं थे कि वो केवल स्वाध्याय करता हुआ निर्वण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो ऐसे नहीं जो सगुण उपासना भी करते रहते हैं वे भी लोक में चले जाएंगे लेकिन जो केवल निर्गुण विद्या मात्र का अभ्यास करते हैं वो योग भ्रष्ट होकर यही पुनर्जन्म को प्राप्त कर तीन चार जन्मों के अंदर कोई तीन कथा कोई छह को कुछ है जो भी जिसका जैसा प्रारब्ध होगा तद अनुसार उनकी मुक्ति यही पर हो सकता है एक व्रत विपरीता ज्ञान युक्त वार जो उसके ठीक विपरीत मैंने केवल कर्मी के विपरीत ज्ञान युक्त मैंने उपासना युक्ता ज्ञान मदरा उपासना उपासना से युक्त होकर के कर रहे हैं वार प्रस्ताह तब श्रद्धे ही तपा ये स्नात क्योंकि उन्होंने क्या अपनाया हुआ है तप को अपनाया तप क्या है स्वाश्रवितम कर तब से लेना स्वाश्रवित जो कर्म गृहस्थ प्रस्तर सन्यासी तीनों ही अपने अपने में आश्रम विहित जो कर्म है उन कर्मों को कर रहे हैं और साथ साथ श्रद्धा हिरण्य गर्भ आदि विषया विद्या हिरण्य गर्भादि विषय जो विद्या है उन उपासनाओं को ते तपश्रद्धे उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है तपश्रद्धे कर्म और उपासना इनको धारण कर आचरण करते हुए चरण तो सब जगह में होगा प्रत्येक के साथ इसलिए इनका आचरण करते हुए उपवसंती सेवन थे अरण्य वर्तमान संत अरण्य में एकांत सेवन करता हुआ अरण्य वनम स्त्री जन संकुल न तपोनुकूल मतो भी चे स्त्री जन असंकीर्ण इसलिए कहते हो कैसा होना चाहिए स्त्रियों से रहित होना चाहिए कि स्त्री जन से युक्त जो प्रदेश है वह वन नहीं कहा जा सकता और वह तप के अनुकूल नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ पर जो है टिप्पण का टीकाकार नारण्य स्त्री जन असंकीर्ण देश है कर दिया टीकाकार उसको स्पष्ट टिप्पण करने का यद्यपि टिप्पण कार क्या और टीकाकार का आशय तो सीधा हो गया व्यक्ति में यदि तपस्व कर क्या लिया आपने रोहित कर्म इसे आप आशिकार जो है सतर्क करके शुरू में दो ही नाम लिया वान संन्यासी सन्यासी दो ही ले रहे ग्रस्त ही ले रहे अभी तो ग्रस्तों का जंगल में रहेगा क्या स्त्रीजन रहित कैसे रहेगा वो स्त्रीजन असंकीर्ण देश में ग्रहण ही सकता इसलिए यहाँ शुरू में तपा श्रद्धा के साथ जोड़ेंगे दो ही को एक अरण्य उपवसंती और चरण चरणता इन्हीं दोनों को तपा शब्द के साथ साक्षात कर अन्वय करना है जो कर्म और उपासना कर रहे हैं कि स्वधर्म कर्म को करता हुआ स्वाश्रम कर्मों को करते हुए उपासना करने वाले जो लोग हैं और कहते हैं शांता उपर कर्ण ग्राम उपरत कर्ण ग्राम वाले हैं जो कर्ण समूह है ये अपने वासनाओं के आधार पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं अर्थात उसके ऊपर नियंत्रण लगा क्षम दम तिशिक्षारी का अभ्यास से युक्त है विद्वांस अब ला रहे हैं विद्वांस शब्द से गृहस्थाश्च ज्ञान प्रदान गृहस्तम बोले वो भी ग्रस्त कौन से जो ज्ञान प्रदाना मैंने उपासना प्रदाना इसमें इस प्रकरण में तो सबसे ज्ञान शब्द का तो उपासना समझो चरंदा परिक्रा भाव उपवसन रणनीति संबंध आइए गया ना बहिश्चर्याचरण से उन सन्यासियों को लेना है जो परिग्रह के अभाव होने कारण से वे भी उपविकारेंगे अरण्य उपवसंधि संबंध उनको भी अरण्य भवसंधि के साथ जोड़ लेना चाहिए ये सब लोग कहा जाएंगे कैसे जाएंगे कहते वो उनका जाने की रास्ता तो सूर्य द्वारे सूर्य द्वारे न सूर्योपलक्षित उत्तरायण तथा सूर्य से उपलक्षित जो उत्तरायण मार्ग है उस उत्तरायण मार्ग के द्वारा ते वे लोग तीनों प्रकार के उपासना प्रधान गृहस्थ और सर वो भी अपने स्वकर्म प्रधान चलेगा जो उपासना प्रधान है कर्म गौण है ऐसा ग्रस्त इसी प्रकार से उपासना प्रधान कर्म गौण ऐसे जो वानप्रस्थ और उपासना प्रधान कर्म गौण ऐसा जो सन्यासी ये तीनों प्रकार के लोग ते विरजा विरज संता शील पुण्य पाप कर्माण संता वे जो है स्वर्ग आदि के उपभोग करने योग्य जो पुण्य है और नरकारी के उपभोग के योग्य जो पाप है इन सब उनके लिए क्षीण हो चुके हैं संत ऐसा होकर इत्यर्थ प्रयाण भी प्रकर्षेण या वे ऐसा होकर जाते हैं प्रकृष्ट न जाते हैं कहा जाते हैं तो यत्र यस्मिन सत्यलोकादो वो सत्यलोक ब्रह्म आदि स्थलों में चले जाएंगे जहाँ पर अमृत सब पुरुष प्रथम जो हिरण्य गर्भ ही अव्य आत्मा अव्य स्वभाव संसार संसार स्थायी वह पुरुष अमृतमय पुरुष रहता है कौन प्रथमज जिसको नाम से पुकारते लोग हिरण्य गर्भ गोवा रहता है वह अव्य आत्मा कैसे कहते हो अव्य आत्मा इसलिए अव्य स्वभाव वाला है कब तक अव्य स्वभाव वाला है कहते कि आवत संसार स्थायी होने से उसको भी अव्य कह दिया गया गीता में भी जो वर्तमान में आ रहा है प्रकरण उसमें भी यही है अव्यक्त शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है अक्षर को भी अव्यक्त ही कहेंगे विराट जो हिरण को भी अव्यक्त ही कहेंगे एक ही शब्द दोनों के लिए आत्मा शुद्ध ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है और आत्मा हिरण गर्भ के लिए प्रयोग होता है एक में निरपेक्ष होकर होता है एक में सापेक्ष होता है ब्रह्म के लिए अवय आत्मा अवयम इत्यादि जो शब्द होते हैं अमृतम अमरम इत्यादि शब्द वो निरपेक्ष है और ब्रह्मा के लिए वाले के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो अन्य जीवों की अपेक्षा को लेकर कहा जा रहा है अन्य जीव तो जल्दी आगे जाने वाले हैं इनकी अपेक्षा से सब व्ययशील है उन व्यय स्वभाव वालों की अपेक्षा से और हिरण्य को अवय आत्मा कहा जाता है और सापेक्ष शब्द है शब्द एक ही है कहीं सापेक्ष वृत्ति से है कहीं निरपेक्ष वृत्ति से है ये प्रकरण आदि क्या तय होता है कि कौन सा शब्द का त्यार कहा कैसे लेना है कहेंगे स्वयं आपेक्षिकम करके आगे एक तो संसार गत अपर विद्यागम हाँ, यहाँ तक ही जो बात है ये सब संसार की गति वाले हैं अपर विद्या का विषय अपर विद्या प्राप्य स्थान विशेष है आ ब्रह्म भुवनालोक इसलिए कह दिया था तो ब्रह्म लोक पर्यंत सारे घर क्या है आवागमन वाला ही है ये सब संसार की गति ही है क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी कोई भरोसा नहीं क्या वापस लौटेंगे क्या अगला कल्प में कोई पदाधिकारी बन के पड़े रहेंगे क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है यहाँ तो सोचा भी जा सकता है समझा भी जा सकता है और यहाँ पर हमारा प्रयास भी किया जा सकता है यह ब्रह्मलोक जाने के बाद कोई प्रयास नहीं हो वहाँ तो आपके यहाँ के अभ्यास के आधार पर निर्भर होता है वह आपका अभ्यास कितना प्रचलित रहेगा चलन वाला होगा यदि यहाँ दृढ़ अभ्यास पूर्वक आप गए आप अधिक से अधिक अभ्यास करते तो गए हुए हैं फिर वहां भी का ब्रह्म चिंतन लगातार चलते रहेगा तो वह व्यक्ति ब्रह्म के साथ साथ चला जाएगा यहाँ पर दोनों काम कर रहा है ब्रह्म चिंतन भी कर रहा है जगत चिंतन भी कर रहा है वो व्यक्ति यहाँ से वहां पहुंचने के बाद में वो जरूर अपने जगत चिंतन के आधार पर उसके प्रारंभ कर्म साथ तो बन जाएगा उस प्रारंभ कर्म को लेकर हो सकता है अगला कल में किसी ने किसी पद को प्राप्त कर जाएगा और अगर ज्यादा ही प्रबल है तो फिर वापस यहाँ भी लौट सकता तीन विकल्प इसलिए पहले दिए हुए थे तो वही ध्यान में रखकर क्या कह रहा है संसार का तेवा पर विद्या गम्या हाँ। मोक्षम इच्छती के चित न यही सर्व प्रबलियंती कामाते सर्वगम शरण प्राप्त धीरा युक्तात्मा एक तो मोक्ष इच्छन्ति तो ये लोग तो मोक्ष को ही चाहते हैं तो फिर इनको कैसे संसार गति को प्राप्त हो जाएंगे एक एतम मोक्षम इच्छन्ति के चित कुछ लोगों का गाना है व्याख्या ननु से कुछ लोगों की व्याख्या है कि यहाँ पर इन लोगों का भी सीधे मोक्ष के साथ संबंध कर देना चाहते हैं एकम हितम मोक्षम इच्छन्ति इसको मोक्ष ही है ऐसा कुछ लोगों का कहना है इच्छे नो ऐसा नहीं कर सकता यही वह सर्वे प्रवलियंत कामा ते सर्वगुण सर्वदत्ता प्रदीरा युक्तात्मा सर्वमेव आचित्य श्रुतिभ्यो क्योंकि अन्य शब्दों से ज्ञापन होता है या मोक्ष का प्रकरण हो नहीं सकता अन्य शब्द क्या कहते हैं जो वास्तव मोक्ष है, होना है तो उसकी तो सारी कामनाएं यहीं पर लीन हो जाएगी यही वह सर्वे प्रवलियन कामा यहीं पर उसकी सारी कामने लीन हो जाएंगे और किसी लोग को जाएगा ही नहीं जिसका ये मोक्ष होना है तो ये सर्वगम मैंने सर्वद प्राप्त धीरा युक्तात्मा वे वास्तव में सर्वता उस एक स्वरूप को ही प्राप्त कर लिए हैं ऐसे जो धीर है युक्तात्मा वाले वो सर्वम एवं आविशंति वो सर्व के साथ एक